तलू करी है तो अरने ब्राह्मण फाटियां पढ़ रहा है और अरने आपरे कही है होम प्रतिष्ठा बड़ो भारी है इसमें दिख दिख व्याजित्व काम भरी हाँ काम बधाई दियो सर तो आ धर्मरी झाल और हाँ। ऊंची नोनो ताला डड डड डड डड डड डड चलू करियो ब्राह्मण उबा वे जा पाटियां पड़े घीरो तप धूपेड़ा में जोत करा जो कोई इति आ जावे तो उठू ऊपर ऊपर हाँ, ना घी आवे घणो वे पीपा दस कूडियोड़ा हां हाँ। ब्राह्मण देखियो तारी मादणू धारी अटे डबणो ही अब को हां थे तो भेड़ा ही जापे કનૈયા મનમે વિચાર કર્યો અટે અપું ઇત્તા તપરે કને સન વે કોને વે કોને દૂધોળો બ્રાહ્મણ બોલ્યો હાટો રે બેટીરા બાપ દસ પીપા કૂજોડા હે દેખ એક બાત બતાઉં કયો કઈ કે કોરો કરવો કુંકુ ભણનો સામા શેતી હોમ સ્વા ગીતોરો ભાઈ ગીતોરો કયો પીપા દસ કૂજોડા હે હા મતલબ કરલો આપણો હેર દેર કટે વ્યાજ ટે તો બાઈજી ને પરણાય પીળા હાથ કરાવા હા પીપા દસ કુજોડા આઈર માયનો પીપો દો પીપા કાઢલા રાજાન ખાજા ને વાતે ખાતે કોઈ પરવાય કોને કોઈ ગરીબ લોઈ માસ ની વા દાંતા ઉપર વેડારો ખાજામાં ખોટી આય ગરીબરી કદે નિર્પળ જાય મરા બકરારી ખાલસે ને લોહા બસમ હો જાય હો જાવે ગરીબ રો તો કઈ ખવા રાજ મે છોડી તો બવા કોની પણ અટે રાજાન ખાજા ને અટે કઈ પરવાય અટે કઈ પરવાય અટે તો आंदा पीसे कुत्ता खावे कुत्ता खावे अटू तो काट ला तो की कोला दोबारो पावे पावे अटे हाँ, उड़ाई लो दो चार हां लाका पर लेखन चाले करोड़ा पर कलम चाले हीरा पना माणक मोती मोरा अड़बों खड़बों आपरी तिजोरियां तोसा का ना कोचार भरिया है आहा अटे राजा ने खजान कोई बात नहीं कुमी नहीं है कुमी नहीं है काशी जी पढ़ाई करना है आकाश जी पर जड़ा पंडिता ने बुलाया है तो पता पाई फोरा पुत्रो तो पाने बुलाए नहीं हाँ बुलाए नहीं सके आपने खर्चो ही नहीं निम सके नहीं निम सके बारह बारह वर्ष काश जी में पढ़ाई करी सर दूधड़ो बोलियो ककोरो करवो कुंकुम बनो सामा से होम स्वा कमे चोरा ठाऊ को खने की को लाया गी हां हाँ, अब यही हां यही हां चोरगन मेगली कोनी मेगली कोनी हुसन भाई छड़ा हंडीन कोई घड़ा हाँ। आगे हाथ ला रहे हाथ रख सारा के गुरु गोरखनाथ दो पोई दो खाक मैं कई पंपोले राख राख में जो भाई खा मिल लिया हां तिजोड़ो बोलियो કે કોરો કરવો કુંકુમ બનો સામા સેતી હોમ સ્વા બેરા માટા પડ્યા કયો થામ કને ચાર રંગોડા પડ્યા માટા हाँ वाह में घालो તમે ગાલો हाँ। જોકો બે લઈને ચાલાઉં हाँ સોતોડો બોલ્યો કે કોરો કરવો કુંકુમ બનો સામા સેતી હોમ સ્વા કોરો કરવો ઘી ચૂંસ જાસી કયો ચૂંસ દઈ પાણીની છાંટી લાગ્યોરી કોની હા. માતા પર પીસગા તો तो चीकना बजावा मुदाई रो पाद कोई कोनी पांच वो कुंकुम ओम स्वागी चूस दासी तारा बाप रो के दासी गट कहीं पया गिनिया <laughs> जाता हमारी जटा हत्या आई जो कोई छोकी भाई कोई है भाई तो जिते एक नाइन फिरती नाइन लेकियो बामन घी ले जाई अपा टाबर बाटी आका में चूरी आना तो घी में चूर ली यार अपा भाई जी जलमैन बेगार काढ़ा मेहंदी लावन पीटी करवान मोली मोड़ा हाथ लगावन स्नान हाँ, करो बेगार काढ़ा यही बेगार मिर्चा कूटोन धनिया कूटोन हल्दी कूटोन पटोन पीसोन हगड़ो तो बेगार अपा ने करनी पड़े हां और दाइन कियो डावड़िया ये गीत गाओ है क्या हाँ। क्या सुनो बिंद्रा मामा बामणिया बेटा गीत चोरे सुनो बिंद्रा मामा बामणिया बेटा गीत चोरे यान गीत गाओ गीत गाउने लागी અને બ્રાહ્મણાને ઠાપડી બ્રાહ્મણ દેખ્યો ડુમા આડી ડોખરીન બોલતા આડી ભૈ ખેત મેાડવો કરે ના તો બોાડવો કી પરસલ ખાવે ના કોઈને ખાણ દે માકી આપ ઈ મરેન્દુજા ની મારે માર લે હા આપાને આડી દિવાલ ખટુ આઈ આ જલમી હે ભેર એ બોલ્યા કોર ઓકર વો કુંકું વણો સા માં સતી ઓમ સ્વાદા ધરાદા મારા બોલી બોલજા કી આકામત કર આકામત કર જા આ દો તને દે દયા આગાત કે બાદ તું દિયો કન ઘર ક્યું બતાવે તું માને નહીં ખાવું દે અને हाँ તું નહીં ખાવે तू ही नहीं खावे दोनों ही बार है जो ही रह जा क्यों आदो दे दे हो क्यों हाँ क्यों भाई भाई गीत गाया देखो घना हाँ अब जरा- घना भाई ये घना जरा दो चिड़िया लाइन मेल दी नाइन क्यों आ दो चिड़िया है हमें घी गाल दो और मने पकड़ा दो मैं मते मते थाने घी घरे गालिया हूँ तब भाई जी ने फूट रहा जत्मो तुम फुनाओ पढ़ना होते तो ब्राह्मण तो आप रे सैकड़ों ही बड़ा बियोड़ा ए आप रे फरनारिया है अने नाइन ने क्यों ले आपरे आलू मराज उपरे जाए दो चिड़िया भर भी टंकी मुंह पर नाल नकी मोली कर दी है क्यों के सोरी करे तो जारी करे ऊपर तो तेज आवे ताड़े घी पर जात कर दे दस पीपा कूदिया ऊपर सामने उड़ाए दो ब्राह्मण ने राजा रटे चोरियां कर हाँ, दी करवा तो लागा उठे कहीं छोड़े हां परनाल ने की मोली कर दी अन दो चिड़िया भर आलू मराज आया नाइन घोड़ारा कान वेजू त्यार उभी नाल कने क्यों ले दो चिड़िया आलू मराज रे घर ले जा नाइन दे क्यों कट्टे कुत्ता बुसावा कटे ने अपा तो पर घरी सी पड़ी है जगह में అప్పాతో పర గరి మూణచి పడి జగమ్మ చెప్పు वाह आ हाँ, तो ఆ सी पड़ी जगह ने సాప్ दो दुपा ना डड डड डड डड डड डड दो सरिया ने पाची आएगी हाँ, हाँ। आलू मरादरे घर लेगी कहां से आलू मरादरे लेगी वाह वाह पाचो गया है ऊपरे आज प्राण की ले दो सरिया हैदू मरादरे घर ले जा तो किरा हैदू महाराज वा तो हैदू मराज बटरे राग ली मटके आपरे मूण में मूण सी हेदोड़ी वही भी मैं जेपी वही आपरे बड़ी बड़े मूण है भी मैं आपरे जावे आपने गुड़गुड़ाहट पाती आएगी तो अर्धे उमराज ने क्यों अर्धे उमराज रहे सोतु मराद रहे बागू मराद रहे बहुरू मराद रहे बुद्धा मराद रहे बाबू मराद रहे क्रिया हगला रहे वैदा मूल में खूडियांगी जीता आपने बरीजगी बरीजगी आ तो किवाड़ी जोड़ एक कसीरो बासो पड़ियो भी रहे आपने गाटियारे पसाई दियो है मार्कनियो पाडो करे जी फूफाड़ा करे पाची कहीं करने आवे वा क्या मार तो कहली थोड़ी सो को जावे ब्राह्मण पढ़ना दिया है पढ़नाता पढ़नाता हतले वालो टाइम यू क्यों राजा साहब पुंगल गड्ढा राजा भाई जी रो हथले वालो टाइम है और बस रो मारा गुजरा बादल आ बेला थानी है हाँ, अबे लेनो लेनो वे तो कह दिरो कह दिरो हाँ। और आ टाइम है और ई जगह आप देवला दियोड़ो उगे है बाकी है तो कोई तो हर कट्टी छोड़ ले जा डंडो डोर गमजा लाज में बोल जा कट्टी की काम दे हां ये था कोई नहीं सॉरी मैज करिया मैज करिया इस जगह अब आपने की के जो कुछ हां देनो जो ધર્મપુંદ કરદોડ तो साहब રાજા સાહેબ રે કાકો સાર અને આપણે है के बड़ा बाबू <laughs> साहब आपरे भाई साहब ने और आपरे અટીટી હા बाउन रजवाड़ रही राज भी आयोड़ा हाँ, हाँ। भाई कोई एक सौ एक है कोई इक्यावन रुपया है कोई इकतीस है कोई इकतालीस है कोई एक मोहर है कोई दो मोहर है कोई आपरे बाबू साहब पांच मोहर दी है यहाँ हगड़ाई या में देनी जीती देरिया है देरिया जीते ही ब्राह्मण मन में विचार करियो हाल तक तो घी आ रही है ठीक काम में जे घी पहली निट जातो जुलम जाता पीपा दस कुजुड़ा पर नाल ने मोरी कर दी इमु का लियो तो ही कहीं है कि दोनों बातें ही हाँ गुणर गाँव तो दोनों होगो तो, तो आप रे कहीं है ठाट पाटू पढ़नाया पढ़नाया जावे आप रे कहीं सांडिया है जो कोई और आप है जो राजा साहब पुंगल गढ़ राजा ने अड़ी बाकी सांडिया सौ सौ कोस रा पल्लारी सौ कोस एक दिन में पहुंचे जटा तक वाने यान दखल नहीं मालूम नहीं पड़े मालूम नहीं पड़े वेड़ी सांझ आंदी दे दिवाय ठाट पाट टू आप पहना दिया दो चार दिन रखा और आप जो कुछ देना जिता आप रे सीख बधाई वाने दे दिवाय ने आप सीख दे दी है तो अरने नरवर कोट राजा मन में विचार करियो अब अपने गांव चालनो सांझा दे दी यहां पर अपा सामान गाल लिया बारह वर्षीय अपन दो चार महीना गेला में लगा दिया खेत साल पूरा बजाई और अब अपने ने साल तो की बात को आहा इतो विचार करियो बी टाइम रे मायने आप ले ढोला कौन जीरा बाबा जी और आपरा बाबू जा रिया है ढोला कौन जी जा रिया है और इन्हें कही है कि ढोला मारवन इन्हें तो मारवन ने तो मैं लिखो नहीं है नी मिली जो आपरे गया पाचा आपरे तो गांव जाए और चार छः महीना भी आ गाँव गया ने बारह महीना भी आ दो वर्ष भी आ अब ढोला कौन जी रे बीस जगह नाले सोना चांदी रा फेरू उन्हें लाग गा है क्यों बेटी रा बापा कट सौ कोस पड़े सौ कोस कटे ढोला कौन जी ले उन्हें जाई ए कौन सा फूट रहा खूबसूरत है मारे भाई साहब घना ही है तो मैं तो टिक पंडा राजा बाबू आगे दस दस पंद्रह पंद्रह बीस बीस ब्याह करता कहीं फर्क हाँ कोई राजा रहे इतनी रानियाँ इतनी रानियाँ इतनी रानियाँ इकट्ठे उठे थली रे मैंने सोकोस ठेठ धोला धरती पड़ा सोकोस कद जाइए हाँ कद आवे कद जा कद आवे कद आवे अट्टे पन्ना जा अट्टे पन्नी जाई मीनिया घनी है और बे आज को मैं बताऊं बत्ती पन्ना है दी है तो आप रे कहीं है अंबिया रानी है जको डोला कौर जी ने और एक पन्ना दी हाँ अंबिया रानी पन्ना दी अंबिया रानी ने जा कोई अटीटी और भी कोई आपस में कियो के एक मारवन पुनी जोड़ी है पुंगल गढ़री जे ढोला कंवर जी बारे जापरा हाथी आईना बातचीत करी मारवन याद आएगी तो अम्बिया रानी थने तो कहीं है मना उतार दई और थने राखेला कोनी और मारवण ने जरूर लिया वे हाँ। तो अम्बिया रानी आने भरमाया है अम्बिया रानी कहीं करे के सूर्यद्रो मुंडो ही नहीं देखने वे વે બઠૈયાને નશા में पता में राखे यहाँ आपरी कर नहीं जावे तो घड़ी अधगड़ी जाव तई पाच आवे तो टेवाने बिठान देवे बैठान देवे और हो कोई बैठान यूं दे बातचीत कंडे नहीं आहा कोई खने जाऊं दे नहीं कोई खने बाटंडा नहीं और अन्य कागज ढोला मारवंडा आवे तो कागजा ने फाड़ हाँ फेंक फाड़ के तोड़ भगा देवे भगा देवे और कोई आवे जका ने पाँच दस रुपया जेब मुंह देने कह देवे कह दीजिए कागज पत्र आयो हाँ आयो ही कौन यहाँ करता करता कई कई दिन वर्तमान वेगा और ने मारवंडा बटालाई वे कोई सैकड़ों ही कागज दिया सैकड़ों कागज मुँह एक ही कागज उठे नहीं पूग नहीं पूगियो जी हमने मायने और ने आप पुंगल कटरा राजा मन में विचार करियो अब कहीं करा कागज देवा आवे नहीं ई बिचे रूम सूमरा बादशाह पाऊँ झगड़ो करे वैन नहीं वह तो रूम सूमरा बादशाह रे कंवर जी है जगह ने साथ भेज दे आहा और तो अब पाँच पंजोड़ी ने तो पाँच हाँ, जा नहीं सके हम्म। और वे आ नहीं सके सैकड़ों कागज दे दिया और सैकड़ों कागजानों जवाब नहीं जवाब नहीं जवाब नहीं तेरा दस पंद्रह दिन री मोहलकत नाकी के पंद्रह दिन में आ जावे तो ठीक है दूजू मारवण ने करने करनी अपा राखा को और नहीं मारवण ने ठा पड़ी मारवण देखियो तारी मादणू साथ फेरा कया ढोला कौन जी रे साथे पजावा तो सत्य वाणी સાથે જમા દૂતીને જાત લાગા ડોત્રી ગા શ્રી કૃષ્ણ દે પુણ્ય દૂજાને સાથે જમા કો ને જીતે અમરે માયને आप पहली कागज कोई जानवर ने दिया तो मिनका ना नहीं पुगंडे जानवर ना कागज कुर्जा ने दिया तो कुर्जा ना कागज गुण पुग हाँ कोई पुग पुगवा ने बी टाइम एक डाडी ने बुलायो डाडी ने बुलान कियो डाडी बीस हजार रुपया मारा गला रो हारे रतन जड़ियोड़ा बीस हजार रुपया तो हार दे दू तने डोला कौन जी ने दो तीन दिन आ रे मायने वो काग दियो ले जाने हंद्रू हां हंद्रू दिखाए दे जे डाडी ढोलो मिले तो कीजे बात बनाई बनाई मारवण पाकी आम जू आम बटाऊ खाए ये जे डाडी ढोलो मिले तो कीजे बात बनाई बनाए मारवण पाकी आम जू आम बटाऊ खाए खाए हे डाडी कह दीजे के आ जी इन बेड़ा बेगा आओ जो थानी राय जादी जोवे रे बाट थानी पातल पेटी जोवे ઓ बाट थानी मिर्गा देनी जोवे ઓ बाट और इन बेड़ा बेगा आओ तो आओ जो नितर गुटली छुवो लगी वहां गिवार हां गुटली हाथ आवेली पछे पछे थे देखो के दाका है काजू है पिस्ता है बिदमा है जो आप पनीजिया जकानी आ टाइम है तीन चार दिन दिनारी मोलगत है मोलगत रे परवाने आओ तो आप आ सको बाकी और पचे आप टाइवड़ाई की बठेला को आ पचे के बा मामलो बनेला ने पचे बी टाइम रे मायने दादी आप कई करियो सोको सा रो ऊंट लियो है ऊंट ले कागलिया कृष्णा नाल मुका पागड़ा उदयपुरा थड़ा खिंचाया है और आपरे नशा पता कर लिया है और ऊंट ने वीर करियो है तो ऊंट हैड़ बड़ा है बड़गड़ा ठेकरा बड़गड़ा ध्रविदला को सांगला धर्मरा बायला पापरा बैरियो है बैरियो है हौण बाजवा रोमिनो हुआ मोरिया बोलता हुआ चिड़िया सतार करती हुआ तारो टूटियो हुए जी सपट्टा ठोक है तो जावता जावता जावता जावता जावता जावता परमात्मा री मारू दिन अस्त उन्नो टाइम यो अनर ने कही है के नरवर कोटरी राजधानी रे मायने ऊंट ठोको श्री मजल कर दिनी है मजल कर दी ढोला कौन जी मैल रेखन एक सेठरी हवेली अब भी हवेली में वो डाडी डबे तो बात कर सके बाकी वहाँ कागज तो गेले गेले तो कोई आवणी हाँ, नहीं देवे सैकड़ो पूरा तिराग दी आवे तो कोई ज्यादा करे के काग दियो वानी भी ने ठोका पिंजो कन बारे काट दे काग दियो लेवे फाड़ ना के वाह वाह यहां कोई रुपया पैसा मरतो है जगह ने रुपया पैसा हाँ दे दे रूपचंद जी पल्ले तो बात गाल ने मिले मिले हो मिले रूपचंद जी आने तो चार खूंट में माने माने रूपचंद जी आने तो डफोल नहीं माने माने रूपचंद जी खूटे जना हगड़ाई रूटे हाँ गूंगा खानो वैदी ने कहो ओहो आओ शाह पधारो तोड़ने परमात्मा जी मैरू कही है ए दादी एक सेठ ने बूझियो सेठा आ वेली किरी है आहा क्यों मारी है थानी है क्यों हाँ बीस रुपया दूँ तीन रोज मैंने डबंडो ने बीस रुपया इरा किराया तीन दिन ने वास्ते रहूँ ने तो मैंने बीस रुपया तो वाणी आई जात ते साग तरकारी रान जोड़ बन सो चार रुपया तो घर चुन चार पांच देवे तो रुपये भरू पाची बनाए ले कहीं फर्क पड़े कहीं कटे कसी बाउंड न जाई पाची बैठ बैठ वो बुला ली तो वो देख ने बोलियो साहब तीन दिन आप हवेली में रहो है कि रहो क्यों देखो मैं रहूं तो कोई दूजो नहीं आ सके कि नहीं साहब मार तो और भी मोगला कमरा नीचे ही घना मैं उठे ऊपर ऊपर मैं क्या मारते आवा क्यों हंगा उपलो खंड है जगह मैं नहीं मैं रहूं क्यों हंगा उपला में बिच्चो नाम नहीं आऊंगा हाँ, हाँ। तीन दिन ही रहो क्यों तीन दिन ही रुपया बीस है बीस थाने वाले पहली ले ले बीस टाइम रे मायने आप रे कहीं है अची तरह रोटियां जिम तान मानू डाडी बैठो आन क्या तूनी रुक रे मायने कहीं पिछम देश रे झमकी है पिछम देश में चमकी है भी टेम रे मायने डाडी कियो है आ के ऊंची खिमेला ऊंचा सरा नीची खिमेला नेश के ढोला रे सास रे के मारवण वाले देश ऊंची खिमेला ऊंचा सरा नीची खिमेला नेश नेश કે ઢોલા રે સાસ રે કે મારવણ વાળે દેશ देश કયો એ બીજલિયા કે તો ઢોલા કંવરજી રે સાસ રે हाँ કે हाँ મારવણ વાળા દેશ રે માઈને ચિમકે હે हाँ हाँ बी टेमरा ढोला कंवर जी ने मारवंडो नाम लियो बी टेमरे मायने कई है मन में विचार करियो थारी मादड़ू अठारह वर्ष हो गया अंबिया रानी ने पन्नी जी अठारह वर्ष अपने भरमाए और दिया मा- मारवण रे दिखने कागज पत्र मारवण दिखने अपने जाउन दिया ही कोई नहीं है जी ने रीस आई एडी री धाल रीस छोटी सिटकी छोटी री आसमान सिटकी आसमान री ब्रह्मण में ब्रह्मण री त्रिमण में त्रिमण री सोमण में जाती ठेको दियो ठेको दियो है बस करी पूंछ पग दियो है काली पीली टोबरी आंधी आई है दिन भात्रा तमस मान एक सौ आठ डिग्री गुस्सो कर दियो है मन में विचार करियो और दुओ कुण कियो कुण ने कियो जी टेमरे मायने आप है जो कहीं है अफूटा फोड़ गया है કે ઢોલા ફૂટા પોડિયા નકલ્યા કુતરે ભીત કઈ ચાકરિયા ચિત્ત લાગ્યો કઈ મારવણ આયગી ચીત ઢોલા ફૂટા પોડિયા નકલ્યા કુતરે ભીત કઈ ચાકરિયા ચિત્ત લાગ્યો કઈ મારવણ आएगी चीत अम्बिया रानी देखने बोली आज मारो न याद आएगी दिसे क्यों ढोला कंवर जी अफूटा पोजाओ नखलियाओ भीत कुचरो कई बात हुई कहीं मारवन याद आएगी कहीं जी टैमरे मोइने कियो रानी अठारह वर्ष हो गया मैं कटे बारे फिरने या कोई बातचीत करी को नहीं है भी टैमरे मोइने आप कही है के री सामना में आयोड़ा रिया यहाँ करता करता दो चार गड़ी भी पांच गड़ी भी छह गड़ी भी सूरजी मराज उगा है सुबेरी टाइम भी है सिंदूरिया फूटा है मोर पपिया बोल रिया है कोयला टौका दे रही है झंझनी राग वेरी है गदरा फसरा भगत भी है भी टाइम रे मायने भी डाडी आप बात करिए भी टाइम रे डाडी कागज पकड़ाई हाँ દાદી કાગજ પકડાયો કાગજ રે માયને લખ્યો કે આપ આદરા હૃદય માયને પૂગણો વ્યાજ તો ઠેઠ પૂગો બાકી પચે પૂગ્યોડા काम દેવલા કોની દો દિન તો એક દિન કાગજ દિયો દૂસરે દિન દાડી પીર ગયો तीसरो દિન એક દિન આજ આદરો બાકી રહ્યો આહા ઢોલા કંવરજી મન મેં વિચાર કર્યો સો કોસલા પદલારો ઊંટ વેન આજ जी टाइम रे माँ ने ढोला कमजी धोतिया होतिया साबुन धो धुपाय और लूंग डोडा इलाचियाँ सुपारियाँ हुपारियाँ सब हाने करिए हाने कर और ये गुगर माल देने आप ऊँट बट्टा सौ डोट से देखा ने बूझी हुआ कि किणगल गालू गुगला किणगल मैलू लज लज दिवले वाट संजोवता मन मारवण मेले अज किणगल गालू गुगला किणगल मैलू लज लज दिवले वाट संजोवता मन मारवण मेले अज अज आदरा हुरज में मन मारवण बतावे का मारवण उबी हां जको अड़ो ऊंट जको बोलो आगे सब्जुक बारा जानवर मुंडे बोलता बीते अमरे मायने वे कहीं अम्बिया रानी रहा ऊँट फिर रहा हूँ दियोरी हांडिया जकारा टोड़ चा जको तो माटा फूटा फिर फिर बैठ गया बैठ गया सन्मुख आ जको कहीं ये मुंडा आड़ने हाथ तो माटा मुंडा उड़ने फेर <laughs> दिया है मुंडा फेर दिया अभी टेम रे मायने एक मारवंडा पीरी साठ दियोरी जकारो तीन बरसो टोड़ियो तियानो टोड़ हो हाँ, हाँ। બો બોલ્યો કે માંગળ ગલો ગુગરા ભગત ગર મે લો લજ લજ ડીવલે બાટ સંજોવતા તને મારવાણ મેલુ આજ માંગળ ગલો ગુગરા ભગત ગર મે લો લજ લજ ડીવલે બાટ સંજોવતા તને મારવાણ મેલુ આજ આજ કીયો આદરા હુર્દ મે મારવાણ તો પરમાત્મા રી મેર વેવેલા બી ઉલાજ બોલા કેલા તો આપને આદરા હુર્દ મે મારવાણ કે દેઉં કે ઉબી આહા ભગવાન લાજ રાખી જી ટેમરમાં એને ઢોલા કમરજી બી ઢોળિયાને કહેવાય કે વડા બડાની બોલ્યા તું ક્યું બોલ્યો ત્યાણા તોડ તોડ છટક છીટક પડેલા પાસળી સિર કુતરેલા ડોડ બડા બડાની બોલ્યા તું ક્યું બોલ્યો ત્યાણા તોડ તોડ છીટક પડેલા પાસળી સિર કુતરેલા ડોડ ડોડ હે બેટીરા બાપ આઠ દસ દસ ભરરા ઊંટ બઠાય ए नहीं बोलिया तू तीन वर्षो हाँ, टोडियो है जो तू बोल रही है बोल रही है काचो तोड़ है देखो माथो कटे पड़ियो रे ढोल ढोल का अगला तेरा बाप आठ आठ दस दस पर ऊंट बैठा है ए नहीं बोलिया तू तीन वर्षो हाँ, टोडियो है जो तू बोल रही है बोल रही हो बोल रही है काचो तोड़ है देखो माथो कटे पड़ियो रे ढोल ढोल का अगला कुचरी और पासले आटे पड़ी रही तारी जरा वो क्यों है કે ખાઉં ખરક ખોપરા ચાબુ નાગર વેલ વેલ પાણી પીઉં ગંગા ઘાટરો ઉપત જકુઈ બળું રે તો ખાઉં ખરક ખોપરા ચાબુ નાગર બેલ બેલ પાણી પીઉં ગંગા ઘાટરો ઉપત જકુઈ બળું રે રેત અટે જોખ મેં તો આને બેઠું હમ जी कैमरामैन ने टोल्डो देखने बोलियो है कि हाँ, हाँ। गंगा घाट रो पानी पीऊं और खर खोपरा चबूं और नागर बेल साब हाँ, हूं मैं जका अटा आन पतवी जोकर मायने बैठो हां बैठो हूं मैं बैठो भी कैमरामैन ने वे कहीं है आप टोल्डियो फसो के बे કે ગુદલા ગુદલા પાણી પીએ ચાબે બુઈરા બૂટ બૂટ બારા મણ બોજ ઠેંગ હાલ દો એ બહાર ખીંચાવણ ઊંટ ગુદલા ગુદલા પાણી પીએ ચાબે બુઈરા બૂટ બૂટ ઓ બૂટ બારા મણ બહાર ઠેંગ હાલ દો એ બહાર ખીંચાવણ ઊંट ऊंट ए जो बहार खींचवार वास्ते ऊंट कामरा दस बारह कोस दिन में फुगे है सौ कोस पल्ला रो टोल जो तो मैं हूँ मैं हूँ और मारवंड बटू दियो जका ने सातरो मैं दियोड़ो हूं हां जो मारवंडा देश रे मायने पाचा आपने मैं ले जाऊं मैं ले जा सको तो नहीं ले जा सको मारवंडा दियोड़ा ऊंट नहीं है ए रानी दा दियोड़ा जो है अपने ले जावे कोनी ले जावे कोनी हम्म। इरे शोक आ जावे जो ए आपरा भाई जी री रेग रखे जो ए जो उठे हां ठेठ पुगावे कोनी पुगावे कोनी बी टाइम रे मायने ढोला कंवर जी आप कहीं है के ਆਪਣੋ ਸਮਾਨ ਮਾਨ ਲੈ ਲਿਵਾ ਤਿਆਰ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਅਣੇ ਅੰਮਿਆ ਰਾਣੀ ਕਈ ਐ ਵੀ ਢੋਲ ਜਾ ਖਨ ਆਈ ਹੈ ਆਹ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਾ ਮਾਰਾ ਬਾਪਰੋ ਮਾਰੀ ਬਰਗਾ ਬਹਿ ਬਹਿ ਮਤ ਜਾ ਢੋਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਸਰੇ ਖੋੜੋ ਵੇਨੇ ਬਹਿ ਤੂੰ ਕਰਾ ਮਾਰਾ ਬਾਪਰੋ ਮਾਰੀ ਜੋ ਬਰਗਾ ਬਹਿ ਬਹਿ ਮਤ ਜਾ ਢੋਲਾ ਦੇ ਸਾਸਰੇ ਪਛ ਖੋੜੋ ਵੇਨੇ ਬਹਿ ਬਹਿ के खोड़ा विवा तो डामी जा बंदिया भूखा मरा मरा जावा डोला जी रे सास रे पचहरिया ही मूंग चरा खोड़ा विवा तो डामी जा बंदिया भूखा मरा मरा ओ मरा जावा डोला जी रे सास रे पचहरिया ही मूंग चरा चरा बी टेमरा अंबिया रानी कई करियो चारों पगान ने ताकड़ा ठोक दिया है ताकड़ा ठोक दिया डोला कंवर जी ने जास नहीं पड़न दी डोला कंवर जी ले આ ટોળજાને વીરવ્યા વીરવેને આ પાગડે પગ છાડ્યો તો ટોળદો કાંકરા આયા કટી કાઠી જમીન આવી જતી આ અદર અદર કર્યો પગને અદર અદર કર્યા જ નાખ્યો રે ટોળડા સોકો સટું પડે હે પુંગલગઢ આ કચ્છાલા ભાઈ કચ્છાલા અટે અહીંયા તું પગાને થોગને ચાલે તો આપણને સોકોસ ક્યાં પૂગમ બીરા નાખ્યો કે डोला का दो पगड़ा ताकड़ा ढिली कर दो रग रग दिवले बाट संजो बता तने मारवण मेलू आज का दो पगड़ा ताकड़ा ढिली जो कर दो रग रग दिवले बाट संजो बता तने मारवण मेलू आज आज क्यों पगम में चारों पगम ताकड़ा ठोक दिया अंबिया रानी हां हालू किया आलू किया आप पैदो तो कहीं टू जाने झिकान चारू पगाना ताकड़ा काट और आपने कहीं छीनता गरम कर कर भी रहे आपने कहीं जला जला भी मायने दाबिया है और पगाने खरा पटकन तपाया है भी टेम रे मायने आप टोल दियो पाछो की पग थोड़ा ठीक हुआ ढोला कंवर जी पागड़े पग दियो है तो टोल दियो है अडवड़ा है बड़गड़ा ठेकारा बड़गड़ा धर्मजला धरको सा आगला धर्मरा मायला पापरा खड़ दिया है और मीनो वे मोरिया बोलता हुआ चिड़िया से चार करती हुआ तारो टूटो में जो सपट्टा ठोकरने लागियो है ओ कहीं है सड्डा आठबंद बैरियो है जान तोपान मिल कालका मिल हावड़ा मिल दिल्ली आगे रो आगे बड़ी लैंड पर रफ्तार पकड़े पचास मील रो रन करने डबे है जान आप कहीं और रन करने सपट्टा ठोकरने लाग गियो है जारियो जाओ ता जाओ ता जाओ ता जाओ ता जाओ ता जाओ ता जाओ ता परमात्मा री मारू आपरी दिन बरस ते बियो बता बता दिन अस्त वे उनो टाइम यो आहा हर पुंगल के डाजे को जकाने गोर वे पू गियो है पू गियो अभी टाइम रे मायने बेरा परे पिया या पानी भरती जटे कोई बाल्टी पड़ी टोड़ियो तिरसो भगो देखियो पानी पिला टोड़ियो भी बाल्टी रे मायने मुंडो गाल गियो है तो मारवान राजा साहब रे भाई साहब દુજા हाँ, हाँ। और एक मरवण नाम री कोई बाम्यारी छोकरी वही मरवण नाम हो हाँ, बोलो वो पानी री बाल्टी पड़ी जका में मुंडो घालियो वी टेमरा वा कामड़ी री दे दी है कामड़ी री दे दी है वी टेमरे मायने और टोलियो देखने बोलियो है डोला मरवण मरवण थे करो मरवण है दे दुनिया आहा पिता कसरे डोला भाई कामड़िया कियो इने को कई मरवण मरवण आ मरवण नाम हीरो लेवे ना तो ये कोई डेडनी है मारे कामड़ी दे पड़ी पितोड़ा आहा जरा कियो टोड़िया वे अपा ले जमा जको तो न्याला है अरे आ तो कोई दूसरी कोई आ, दूसरी कोई गांव की बस्ती की है है हम्म। बी टेमरे मायने अरे नहीं कटरा राजा ने ठाप पड़ी के हाँ। डोला कंवर जी अपा ने भाई साहब पनावेड़ा मारवन जको आई गया है हाँ। अने अपा विचार करियो के बे नहीं आवे तो करने करने अपा कहीं विचार और में लाग गया हा जो आज वे आ गया तो वह नहीं वे वाने अपा ये खेत में भेजदा जटे नव तो सिंह आवे जटे भी सिंह आवे जी जगह भेजदा तो कहीं वो सिंह नव तो हाँ, मारना के मारना लार छूट दे लार छूट दे अरे डोला कंवर जी ने आप ਆਪਾ ਕੌਣ जी ने ਕੀ जाओ वो अपन खेत में मालो आए जी जगह सिंह आवे नव तो दटने भी खेत में ली जान माला खाने बिठानिया हो उठे ली जाने बिठानिया है और ने रूम सुमरा बादशाह वे विचार करियो का अपन चला अपन ने बातचीत करता है कि भाई अपन लड़ाई झगड़ो अबे आनो नहीं करान अपन साथ भेज दे तो इतो विचार करियो भी टाइम रे मायने आप कही है के मारवन ने आप उठा लाइन बिठानिया है क्यों साहब रूम सुमरा बादशाह है जकाना है कौन जी जकान सत्य बेजन नु विचार करा हां बी टाइम रा मारवण ने ठा पड़ गई के ढोला कौन जी आ गया हां ढोला कौन जी आ गया बी टाइम रा माने आप री टुकिया में कूंची आई जको बाप रे कई छोकरियां वो भी डावड़िया रंग बेल फूल बेल चंपा बेली लिबली लिबली ढोल पोड़ में क्या तोड़ जकाने एकदम कूंचिया काडन एंड फांकी मुंडा मुंडा के यो छोकरियां ए कूंचिया ले जाओ मारे डैडी पोशाक पहन जाओ मैं तो उठनार नाड़ने आगे आ जाऊं थने अटे बिटान दे तू रूम सुमरा बाद सारा कौन जी दिखाने सत्य जाई परी और मैं तो ढोला कौन जी आई गया जोड़ने जाऊं परी हाँ, हाँ। आज मौको है और थारे या बेगार मिट जाए बेटी री बाप तू अटे बेगार काट हां बेगार काट है तू थार बटन जाजे आगे जाजे परी हम्म। बीटे हमरा वा कूंचिया मजूसी लेन भाई आपरे कहीं बिजल सारा ताला जुड़िया खोल आडा और पैरी पोशाक पहनने आएगी है बाखन आई जी टेमरे मायने मारवनी उठी जो आपरे आगे पाची जाए परी और कहीं कि यो भी ने तो धक्को देना नहीं पार कार दिन आप है तो कहीं के बाहर निकल गया बाहर निकल थाल बत्तीस साल ना तैतीस भोजन बिला डाला बाजू छोटनिया दाल फागड़िया पलका भीलवाड़ा कलसिया ले लिया है और ले और आप भाई साहब ने बूझियो कि धारा बनो सा या कटे हाँ। कि वो सिंह नवत तो आवे और भी खेत में मालो बनायड़ो है माला वाला खेत में मैंने बिठान ना उठे हरिया मूंग है तो आप रे कहीं टोड़ जाने मोह टोड़ नाग दिया टोड़ जाने उठे बिठाइया यान क्यों अटे बिराजा रो आप तो पचा हुआ उठे बिठाने आवी के मायने कही है नवत तो सिंह आयो जेकाने ढोला कहूं जी क्यों वो तो हिलड़ो हो हाँ, हाँ। ऊंट भगवान आ गयो बीटे में आप तीर कबानी ठोकी नवत तो सिंह हो जेकाने पान से पाउंड आऊं ठोकी हमें लीला सिंह उपता गाणी कूदन पड़ियो दो एक लींड करिया आंख खोली को सिंह पड़ियो बीटे हमरा मारवण गियार कियो कमरानी साहब थोड़ा ने डोडा जो है कि पार ने गादड़ो हाँ, गादड़ो पड़ियो है पड़ियो है ए चांदनो करन देखे नवत तो सिंह पड़ियो कि वो तारी मालू नवत तो सिंह है जगाने तो क्या गादलो पियो है अरे वह ढोला कंवर जी तो ए है खास रूम सुमरा बाद सारा वह आया कंवर जी एक ऊंदरा देन की सिरदाना मैं मारना क्यों मैं मारना हाँ, क्यों मार का होगा मैं तो वे क्यों हम्म। उठे इतना आदमी ने मायने पोमी जा ऊंदरो मार नहीं वे कहीं भला करता अपा तो ऐसे को कहीं है अपा ने पन्नी वाला खास है आने साथ ही साला क्यों डोला कंवर जी वो था दीम लो आ रूम सुमरा बाद सारी फौज आयोडी है और अपा अपाटू चालाऊ राखियो हाथ फिरा खाया हूँ और आने बकार आनू बातचीत करने ले जाऊं हाँ। मैं कोई चोर शिकार नहीं हूँ जो यहाँ छाने ले हाँ, छाने नहीं चालू हाँ, फौज पलटन आई लड़ाई करा मारे मार आऊं आ मारवन हाथ फेरा खावीडी कोई दूजो ले जा सके ले जाने मारे जीवता जिंदगा नहीं कोई ने हाथ नहीं काली हाँ सिंगरी शिकार श्यालियो नहीं खा श्यालियो नहीं खा सके तो विचार कर आप पच आया है क्यों હુણો રૂમ સુમરા બાદશાહ આ મારવણ કે હાલે તો કાં કુંકુરા પગ મંડે હશે તો ફેફડા ફૂલ મુંડા મું બરસે આ મારવણ ને મેં લીધું થે કોઈ મુંડા આગે કોઈ રે દાઈજ વાળ વે જકો હે દાન ખને और लड़ाई करनी हुआ इन्हें लिजावनी हुआ तो अब आप लड़ाई करने हम जाओ आ युद्ध करो आओ युद्ध करो हम्म। युद्ध करो बेटे हमरा हजारों आदमी रूम सुमरा बादशाह फौजरा हमिया अरे मारवान आप टोड़िया पर बैठोरी मान बावे एक एक ही बाण में जार सवार ने काट नाके जो बाण चाले सा डा डा डा डा डा तो ठोके फटकारो पचास खान ने नाग देवे आ नाग दे एक ढोला कौन जी बाण फटकारे जो एक में सौ खान ने हिटा नाग देवे आ जन माली काने काटवा लाग्यो लाग्यो है यहाँ आपरे को एक ने किताक मरने लाग्या आदरा क्यों तारी मादड़ू है कि आपा अटे लड़ाई में कई लाडू बनते बींदनी कीरी कूनी ली जावे आपरी पनी जोड़ी जो आप ली जावे ने अपान खादी रे मायने हाँ मरा ਮਲਾ ਆਪਣੇ ਕਹੀਂ ਆਤਾ ਆਵਣ ਕਹੀਂ ਆਤਾ ਆਵੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਭਈ ਹਾਵਲ ਵੀ ਦੋਕੀ ਹੈ ਕਹੀਂ ਟਾਟੀ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਆ ਕੋਲਾ ਛੁੱਟਾ ਕਿਸਨਾ ਧੜਾ ਲਾ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਮਣੋ ਹੀ ਸੋਕੋ ਆ ਸੋਕੋ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਤੋ ਆਪਰੇ ਦੇਖਿਓ ਪਿੰਡ ਛੋੜ ਦੂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਪਕੜਨ ਨੂੰ ਸੋਕੋ ਹੈ ਸੋਕੋ ਹੈ ਅਟੇ ਮਰਿਆਉ ਕਹੀਂ ਕਾਮ ਆ ਤੋ ਇਹ ਨਾਟਨ ਨੇ ਲਾਜਿਆ ਹੈ ਆਪਰੇ ਹੋ ਦੋਸ਼ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਤੋ ਢੋਲਾ ਕੌਣ ਜੀ ਮਾਰਨਾ ਕਿਆ ਹਾਂ ਮਾਰਨਾ ਕਿਆ ਵੀ ਟੈਮਰਾ ਹਮ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਢੋਲਾ ਕੌਣ ਜੀ ਲੈਨੇ ਵੀਰ ਵਿਆਹ ਹੈ વીર વ્યાવી તેમ રમાયને दो सिंह आदेक ने बोलिया अपारो गांव रो स्वरूप है अपना गांव रो रूप है आज लेन जावे इतना बस तो तू कोई ले गया कोनी ए ले जाई तो अपना गांव रे मायने ई मारवन सतुल कोई दूसरी कोई है ही कोनी अपना गांव रो रंग रूप हगलो ही आज जावे हाँ। बीटे हमरा नवता सिंह दोनों ही आए नाडा प्रिया क्यों मानी घना दिन व्याह रुखाली करता ने आज आप लेन जाओ हाँ। क्यों रे भाई मैं पंडित जी हो हाथ फेरा खाया और पन्नी जोड़ी मारी मैं लीजूं हाँ, तो ले जाओ थाने कही अब का आई बीरा हाँ। कि वो मारा गांव रो रंग रूप और यारो मारा गांव रो मायने दूसरी मुताबिक है ही कौन है कोई बेटे हमरा सिंह हम हम हमिया सिंगा ने एक एक मांडी ढोकी एक एक मांडी ढोकता ही सिंह तो तड़ास खाए ने पुया पूछ रहा ऊंचा गया तो पास कान नहीं हले हाँ चाय पार होता है होता है બી ટેમરા ઢોલા કમડી જાવે એક પીપળો દરકતો પાંચ આતરી જેવડી પૂગે જડો મારવણ ने बोलिया મને તીર્ક बाण दो તીર્ક બાણ લઈને મારવણ બી પીપળ મેં બાણ ફટકાર્યો है तो कहीं है पांच आत्रो वो आपरे जाडो हो जाए कहने मानी मेरे बाण है तो बीस पाउंड आगो गियो है ढोला कौन जी बाण नो पाचो आप साडन कियो लो ओ आप बाप बाण बो आ अबे मैं कर काडो पाचो काडो ढोला कौन जी भाई अभी टेमरे मायने वो पीपल उधर खतो तो आपरे कहीं है टेड़ा खाई गयो कितो के तो को हूं तो बोयूं यूं रूंकड़ो छेद दियो आहा આ ઢોલા કૌંજી બાણ ફટકાર્યો આપવાનું દેખાને માઈને કહીએ કે તેડા ચાલગી तीन तीन चार चार हाथ रे मायने रूंकड़ो थी हाँ सीरीज को है सीरीज को आजा देखने बोलिया के मारो बीस गुना बत्ता है आहा आ दोनों जा रिया आगे दो भाकरा इंडियो और भिंडियो वे देखने बोलिया अपा दोनों भेड़ा बजो अपन मैं वे निकल जी टेमरा दोनों दौड़ो जो अपा भेड़ा वेने हजटी आने मैं राख लो आहा अपना गांव री सरद रे बाहर नहीं निकल बदा हाँ અને દોનું ભાકર બોય દોડનનો વિચાર કર્યો હોય દોડનનો વિચાર કર્યો અને ઢોલા કંવરજીને અને મારવણ કયો આ દોનું દોડ નપાને ભેળા બેન માઈને હજટી રાખ લેલા हाँ बी टेमरा ढोला कंवरजी आपरा टोड़ चो जखाने कहीं है एक सबक भयो है सबक भयो बी टेमरे माने टोड़ियो आपरे कहीं है एक दम होड़ उठने लगा डड डड डड डड डड डड डड ठोक्यो फटकारो जो आपरे डूंगर तो आ गई रह गया न बिचे में निकल गया है निकल गया जहाँ कहीं है कि डूंगरा में की कारी लागी को नहीं ए आप राजधानी में आयो है ढोला कंवर जी थाने मारे ही हो प्रबला भोरे मायने आप तो ढोला कंवर जी हो एक ब्राह्मण हा आ मारवण है एक ब्राह्मणी ही और मैं एक राजा रो कंवर हो विजय सिंह विजय सिंह हो जको ब्राह्मणी खूबसूरत घनी ही मैं मन में विचार करियो इन्हें अटे नहीं आकनी है मैं इन्हें बिछुआ ना करने वास्ते लेने वीर विरोधी टेमरा ब्राह्मणी प्राण छोड़ दियो ना आप ही ब्राह्मण छोड़ दियो छोड़ दियो छोड़ दियो जना मैं थानो घर मंदन व्योड़ो जगह ने बिछुआ थाने आपस में ने अलग अलग कर दिया ई वास्ते अब दूजा लेन जावता जगह मैं पाची ला दी हूँ मारो थानो फर्ज कोल बचन पूरो तो मैं कर दियो हूँ पाची दूजा लेन जावता दूजा ने विचार करियो जगह मैं पाची ला नहीं हूँ पी हूँ इतो कही तो आप ತೋಳ್ಯೋ ತೋ ಆಪ್ರೋ ಕೈ ಬಾನೆ ಠೇಠ ಪುಗಾ ಠಾಣೆ तो को कहीं पर तो प्राण सो दियो है झोला कौर जी आपरी नरवर कोटरी राजधानी में रह दिया है रिया राजा राजपाट क्रियान खाया पियान ठाट क्रियान क्या है जीवतारो सा राव जी सा न्याल कर दिया है आधे को बहुत अच्छी बात कही है आप धन्यवाद हो आप माता पिता ने देखो कि जान तो जड़ी मैं आपने सुनाई